अस्तित्व उपलब्धव्य तत्वभाव चोभयो अस्तित्व उपलब्ध से तत्व प्रसिद्धति इस मंत्र की व्याख्या होती पहले सोपाधिक ब्रह्म में स्थिरीभूत स्थिरबुधन से उसके द्वारा लक्ष्य पदार्थ का ज्ञान होगा लक्ष्यार्थ फिर लक्ष्यार्थ त्वम पद का लक्ष्यार्थ तत्पद का लक्ष्यार्थ ज्ञान हो संशय विपर्य रहित ज्ञान हो तो वाक्यार्थ ज्ञान होता है वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण पदार्थ वाच्यार्थ में विरोध है तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तोम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञ साहंकार जीव दोनों में अभेदन नहीं हो सकता है तो लोक में जिस प्रकार तत्व स्वयं देवदत्त इसी वाक्य में देवदत्त की एकता है सो अयम तद्देश काल अयम कहते देश काल ये दोनों विशेषण को छोड़ करके देवदत्त की एकता इसी प्रकार यहाँ भाग त्याग लक्षण उपाधि औपाधि का धर्म सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व संसारित्व ये सब छोड़ करके चिन्मात्र लक्ष्यार्थ है वाक्यार्थ ज्ञान होता है ये ये कहा गया भाष्य में पहले कहा भाष्य कुछ हुआ था ना तत्रा भी वयो तेन च रूपेण आत्मोपलब्ध भी तो अनुवर्तते पहले सोपाधि का ज्ञान होने पर फिर उपाधि का निराकरण करना है तो सदशतादि प्रत्यय वर्जित प्रत्यय वर्जित आत्मा का तत्व भाव होता है तात्विक स्वरूप तत्रापि उभयो हो भाष्य मंत्र में आया तत्व भावेन च उभयो उभयो हो ये उभयो जो दिया है उभयो हो सोपाधिक निरुपाधिक और दोनों एक सोपाधिक एक निरुपाधिक दोनों में अस्तित्व तत्व भावय हो सोपाधिक ब्रह्म में पहले अस्तित्व ज्ञान होगा निरुपाधिक ब्रह्म का तत्व भाव तात्विक स्वरूप साक्षात्कार होगा यह जो उभयो है षष्ठी दिवचन है निर्धारणार्थ षष्ठी यतश्च निर्धारण सूत्र है निर्धन में से सोपाधिक का ज्ञान होगा पहले अस्तित्व न निरुपाधिक तत्वभावेन तद्रूपेण तो दिया पूर्वम अस्तित्व उपलब्ध अस्तित्व उपलब्धस्य आत्मना मंत्र में अस्तित्व उपलब्धस्य तत्व प्रसिद्धति पूर्वम अस्तित्व उपलब्धस्य आत्मना पहले अस्तित्व आत्मा की उपलब्धि होती है सदैव समेदम अग्र आसीति सर्वम खलिदम ब्रह्म इस वाक्य सुन करके अस्तित्व उपलब्ध होता है ब्रह्म है वही आत्मा है अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया वही अंतर्यामी अत्य आत्मा अंतर्यामी अमृत आत्मा ही ब्रह्म है सत्कार्य उपाधिकृत अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्धस्य कार्य रूप उपाधि ही उपाधि कृत तो प्रत्यय होता है कार्य के साथ सद ब्रह्म का अनुगमन होता है कार्य उपाधि कृत अस्तित्व प्रत्यय न अस्तित्व प्रत्यय होता है उपाधि कृत उपाधि को लेकर के अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्ध से आत्मन कार्य उपाधि का आत्मा का उपलब्ध आत्मा की उपलब्धि अस्तित्व है न पहले उसके बाद पश्चात तत्व भाव पश्चात प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि रूप प्रत्यस्तमित सर्व प्रत्यस्तमितम सर्वोपाधि रूपम यस्य जिसका सारे उपाधि रूप समाप्त हो गया निरुपाधिक सर्व चिन्ह मात्र है आत्मनस तत्व भाव प्रसिद्धति प्रसिद्धति का तो अभिमुख होता है आगे करेंगे प्रकाशन प्रकट हो जाता है पहले अस्तित्व उपलब्ध हुआ फिर मनन निधि ध्यान करने से तो तात्विक स्वरूप प्रकट होता है तत्व भाव क्या है विदिता वितत्ताभ्याम अन्यो अद्वैत भाव केन उपनिषद में आया था अन्य देव तद विदिता अथवा अविदितादति विदित अविदित से भिन्न विदित अर्थात अविदित ज्ञात अज्ञात अपन से भिन्न ही विदित अविदित होता है कहीं कहीं विदित है ज्ञात ज्ञेय पदार्थ कार्य और अविदित कारण विदित है अविदित जितने अपने से भिन्न है कुछ विदित कुछ अविदित उस अन्य होता है शुद्ध चिन्ह मात्र अपना स्वरूप है अद्वय स्वभाव एकमेवादित्यम अद्वय अद्वयम स्वभाव अद्वितीय स्वरूप है नेति नेति इति अस्तुल मननु अहर्षम अदृश्य अनात्म अनिरुत्य अनिलयन इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट प्रसिद्धति अभिमुखी भवति आत्म प्रकाशनाय पूर्वमस्तित्व उपलब्धवत इत्येतत् नेत नेति इसका निषेधी का अर्थात आदेश नेति नेति इति न इति न कह करके जो जो प्राप्त सब का निषेध किया दो बार कहा गया व्याप्ति कार्य न व्याप्तम इच्छा कार्सेन संबद्धम सारे को व्याप्त करने के लिए नेति नेति कर इति न इति न द्वार द्वार द्वारम द्वारम अटति भिक्षु प्रति द्वार जाता है तो कहते द्वारम द्वारम इति न इतना करके इति इति अनेन प्रकार इति जो कुछ प्राप्त है सब का निषेध ज्ञेय पदार्थ सब का निषेध कर देने पर शुद्ध चिन्ह मात्र ही रहेगा जो दीर्घ रूप है ज्ञेय नहीं होता है वो रहेगा सब का निषेध करने पर ज्ञान होता उपदेश भी इस प्रकार नेत नेति ये आदेश है अर्थात तो आदेश अर्थात आदेशो नेति नेति ये उपदेश नेति नेति करके सर्व निषेध अतद व्यावृत्यायम चकितम श्रुतिर श्रुतिरपि महिम नहीं बोलते हैं अतद व्यावृत्या तद भिन्न का निषेध ब्रह्म भिन्न नेति नेति करके दीर्घ पर निषेध करने वाला अपना निषेध नहीं कर सकता है जो ज्ञेय पदार्थ जिसको जानता है जान सकता है स्मरण करता है ज्ञेय पदार्थ का सब का निषेध करेगा तो ब्रह्म भिन्न का निषेध करने पर सब का निषेध हो जाएगा स्वयं निषेध क्या साकी निषेध का दृष्टा निषेध करने वाला ही रह जाएगा वही आत्म स्वरूप है पारमार्थिक स्वरूप वही अस्थूलम अननु अहर्षम अदीर्घम उसका स्वरूप क्या है तो स्थूल नहीं अणु नहीं रस नहीं दीर्घ नहीं ये सब नेति नेति कहकर सामान्य निषेध कर दिया सब का यहाँ स्पष्ट कर दिया क्या क्या निषेध करना स्थूल नहीं रस्व नहीं अणु नहीं दीर्घ नहीं सब दृश्य भी नहीं अदृश्य अनात्मिका तो अशरीर अनिरुत जिसका निर्वचन शब्द से नहीं कहा जाता है अनिलय अनिलय तो आधार अनाधार उसका कोई आधार भी नहीं है इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट उपदिष्ट है वो तत्व भाव तात्विक स्वरूप शुद्ध चिन्ह मात्र अभिमुखी प्रसिद्धति का तो अभिमुखी भवति अभिमुखी भवति ह्रस्व है भवति लट लकार का अभिमुख हो जाता है प्रकट हो जाता है अभिमुखी भवति का तो आत्म प्रकाशनाय अभिमुख हो जाता है अपने प्रकाश के लिए वही प्रकट हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ब्रह्माकार वृत्ति सब निषेध करेगा हम अस्मि ब्रह्म ही ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती तो स्वयं प्रकाश ब्रह्म है वही प्रकट हो गया जो पूर्वम अस्तित्व उपलब्धवत तो अस्तित्व उपलब्धवत जिसने पहले इसे साक्षात उपलब्ध जिसकी उपलब्धि हुई थी अस्ति ब्रह्म उसको ही अहम अस्मि ऐसा ही साक्षात्कार हो जाता है उपलब्धवत साधकस्य सामने प्रकट हो जाता है आत्मस्वरूप टीका में भाष्य में आया सत्कार्य उपाधि के तत्वित प्रत्ययन उपलब्धस्य सत्कार्य सत्कार्यम यस्य इति सत्कार्यम कार्य सत्कात उपलभ्यमानम कार्यम उपाधिरस्य कारणतस्य ये कारणत्व की उपाधि स उपलभ्यमान कार्य कार्य को देखते हैं ये उपलब्ध होता है कार्य उस उपाधि कारणत्वस्य तत्कृतयो अस्तित्व प्रत्यय कारणत्वेन अस्तित्व प्रत्यय कार्य को देख करके इसका कारण कोई है कारण का अनुमान करते हैं कार्य से तो कारणत्वस्य कारणत्वेन कृतो एव अस्तित्व प्रतित्व इसका कोई कारण है कारण होने से कोई होना चाहिए सत कार्य दिखता है तो उसका कोई कारण है प्रपंच कार्य दिखता है तो उसका कोई कारण है और कारण होता है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इससे पहले उपाधि सोपाधि को माया विशिष्ट उपाधि कृत अस्तित्व प्रत्ययन उपलब्ध से उपलब्ध उपाधि का उपलब्ध हुआ था तत्कृत यो अस्तित्व प्रत्यय कारणत्वाद अस्ति पर आत्मेति ये कारणत्वाद जगत के कारण होने से पर आत्मा अस्ति इस प्रकार उपलब्ध हुआ था इति तेन उपलब्ध से इसे जो उपलब्ध हुआ था उसका तत्व भाव तात्विक स्वरूप चिन्ह मात्र अभिमुख हो जाता है स्वयं प्रकाश ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है आगे भाष्य में एवं परमार्थ परमार्थ परमार्थदर्शी आत्म परमार्थम पश्यति तस्चिल परमार्थ को जानने वाला दर्शन पश्य दर्श दृष्टि धातु का अर्थ ज्ञान परमार्थ को जो जानता है पहले तो सोपाधिक रूप का ज्ञान होता है वो परमार्थ ज्ञान नहीं हुआ निरुपाधिक स्वरूप के ज्ञान होने से परमार्थदर्शी स्फटिक को तो देखता है किंतु लाल रक्त स्फटिक कहता है सोपाधि कप स्फटिक को देखता है वास्तव ज्ञान नहीं है उपाधि के बिना जब स्फटिक को देखता है स्वच्छ तो उसका ज्ञान होता है संशय विपर रहित नहीं तो पहले रक्त स्फटिक भ्रांति है स्फटिक अंश में तो भ्रांति नहीं किंतु रक्त स्फटिक भ्रांति है इस प्रकार घटो अस्थि पटो अस्थि अस्थि अस्थि करके सदरूप प्रत्यत है और घटो को मिला करके घट विशिष्ट होकर के और सब सोपाधि का स्वरूप ब्रह्म का जगत कारण है कारणत्वाद तो अस्थि से ज्ञान हुआ कारण तो उपाधि माया विशिष्ट का ज्ञान हुआ था और उपाधि को छोड़ने पर शुद्ध चिन्ह मात्र तो साक्षात्कार होता है तो पहले परमार्थ स्वरूप का ज्ञान हो तत्व भाव प्रसिद्धि जब परमार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए आगे कहते ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है स, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये सहृदिशिता अथ मृत्यु मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ये अस्य हृदिशिता कामा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते यही है अभी हो कभी हो साक्षात्कार होगा तो कामा इच्छा जितने बुद्धि में विषय सब समाप्त हो जाए तभी साक्षात्कार इसलिए साक्षात्कार करने की इच्छा है उसमें हम चलना है तो इच्छाओं को खत्म करना कम करना एक एक कमती करके समाप्त करना विचार करके इच्छा अपेक्षा बढ़ाते जाए तो साक्षात्कार नहीं होगा विपरीतगामी हो जाएगा साधक इच्छाओं का कम करना अपेक्षा कम करना जितने कम से चाले काम एक एक इच्छा को छोड़ संकल्प मन में विभिन्न प्रकार संकल्प आते हैं होता है संकल्प ये करना वो करना वो एक एक को छोड़ना पड़ता है संकल्प के अनुसार मन के पीछे भागने पर संकल्प और बढ़ता है इच्छा के अनुसार जाने पर इच्छा समाप्त नहीं होती है कुछ देखने की इच्छा है तो आगे दिखता है बड़ा पर्वत चलो ऊपर चल जाएंगे उधर जाने का देखा तो उसके ऊपर और एक और पर्वत सोते चलो इस पर्वत को चढ़ जाएंगे ऊपर चढ़ जाएंगे वहाँ जाकर थोड़े पहुँचे वहाँ पहुँचे नहीं दिखता और एक पर्वत है तो जितने ऊपर जाओ हिमालय में चढ़ते जाओ एक पर्वत उसके बाद और एक उसके बाद एक बद्रीनाथ पे पहुँच जाओ वहाँ भी पर्वत है वहाँ भी पर्वत पर चढ़ो देखो वहाँ भी और पर्वत दिखेगा कितने ऐसे चढ़ना है एक स्थान कुछ इस प्रकार जैसे पर्वत हुआ इसी प्रकार कुछ प्राप्त हो गया तो और प्राप्त हो कुछ प्राप्त हो और प्राप्त हो धन में इस प्रकार है स्थान देखने के लिए स्थान देखा तो और कुछ स्थान बका मंदिर दर्शन करने की इच्छा है एक मंदिर दर्शन कर लिया उसके बाद जहाँ गए मंदिर दर्शन के वहाँ सुना वहाँ से कुदर में एक बड़ा सुंदर मंदिर प्राचीन मंदिर है वहाँ नहीं जा पाए पहले से निश्चित हमको तो वापस आना फिर कभी वहाँ पहुँच गए वहाँ से कोई कहेगा यहाँ से आगे जा और एक ताने गुफा बिल्कुल प्राचीन गुफा है वो तो वहाँ ऐसे कितने स्थान है जितने जितने का दर्शन कर लिया उसके बाद पूछो वहाँ जाकर पता करो वो और कुछ बताएंगे और कितने स्थान है कितने स्थान कितने मंदिर है कितने सब है प्राचीन है सब कितने गुफाएं कौन दे सकता है ऐसे से जितने जितने अच्छे सुबह चाहिए ये तीर्थाटन इच्छा था अच्छा है किंतु वो भी तीर्थाटन समाप्त नहीं कर सकते और विषय इच्छा करने वाला विषय चाहेगा तो समाप्त नहीं होता है तो परमात्मा प्राप्ति है साक्षात्कार करना ये जो चक्कर चल रहा है जन्म मरण चक्र उसे आरूढ़ होकर घूम रहा है मुक्त होना चाहता है तो इच्छा को कम करना विचार करके यही ऐसा करते करते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते प्रकर्षण मुच्यन्ते पूरा पूरे इच्छा कमती करते जाए तो उसी मार्ग में आगे बढ़ना होता है जितने कम करें ये निश्चय करें परमात्मा साक्षात्कार करना है मुझे सत्य ब्रह्म साक्षात्कार करना ही है वही चाहे और कुछ नहीं चाहिए ऐसे निर्णय करके साधन करते करते यदि इस जन्म में नहीं हो पाया आगे जन्म प्राप्त हो जाएगा फिर साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करेगा और मन में यदि कुछ इच्छा रह करके सारा जीवन भर रह गया साक्षात्कार कैसे होगा कोई कोई ऐसे कुछ मन में इच्छा रह करके दुखी होकर के खत्म हो जाते तो फिर आगे उसी मार्ग में चलेगा इसलिए सब समाप्त करके प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा सब तो छोड़ करके एक लक्ष्य को प्राप्त करने की चलना है जब सब सर्वे कामा येसे हृदिशिता प्रमुच्यन्ते प्रकर्षण मुच्यन्ते पूरा पूरा समाप्त होते हैं सर्वे थोड़ा नहीं पूरा पूरा काम कहाँ है यस हृदिशिता विषय तो सारा ब्रह्मांड में है किंतु कामना अपने बुद्धि में है हृदय का तो बुद्धि में अपने अंतकरण में ही कामना है उनको छोड़ना है अंतकण में जो वासना है उनको छोड़ना है यही शत्रु है मनुष्य वो बाहर देखता है शत्रु को बाहर को ठीक करना चाहता है अपने हृदय में है इच्छा है इसको समाप्त करो बाहर को संसार को ठीक करने प्रयत्न करता है अपने आप को ठीक नहीं कर पाता है यही चल रहा है संसार चंद्रमंडल चले गए ग्रह नक्षत्र बहुत दूर दूर वैज्ञानिक लोग चले गए हाथी को वश में रख देते सर्प को अपने अधीन कर लेते हैं व्याघ्र को भी नचा लेते भालू को नचाते सर्कस में बहुत कुछ कर लेते हैं किंतु एक छोटा सा मन अपने अंदर है उसको अपने वश में रखना ये नहीं हो पाता है ये जो अपने मन को ही सिद्ध करना है इसको शुद्ध करना है शुद्धि क्या ही इच्छा ही अशुद्धि है इच्छा है इच्छा को छोड़ना है एक एक इच्छा है बार-बार पूछो क्या चाहिए इच्छा के विषय में इच्छा का विषय चिंतन करो अपने स्वरूप से दूर हट जाते हैं और अपने स्वरूप प्राप्त करना है तो मिथ्या प्रपंच सब इच्छा को छोड़ो बार-बार जिस जिसकी इच्छा होती विचार करें विषय क्या पारमार्थिक है या नहीं है कौन कौन विषय पारमार्थिक मालूम है विषय कितने पारमार्थिक है एक भी नहीं है दृश्यत्वात् मिथ्या जैसे स्वप्न दृष्टि इसको बार-बार विचार करके ये क्या है समझ में तो आ जाता है जब विषय चिंतन करते ये फिर सूक्ष्म स्मरण नहीं होता है प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व सर्प स्वप्नवत सबको मालूम है और विषय चिंतन करते समय वो आएगा <laughs> वो कहाँ रह जाएगा उसको सामने लाओ बार बार विषय इच्छा करते समय विचार क्या चल रहा है अभी प्रपंच मिथ्या फिर किसकी इच्छा इच्छा होती है वास्तव इच्छा पदार्थ क्या है ऐसे करके समाप्त करना पड़ता है विचार करके प्रयास यही प्रयास करना होता है जप ध्यान अनुष्ठान श्रवण मनन सब करते करते इच्छा को भी समाप्त करना ये भी एक साधन है इच्छा के पीछे जो कुछ प्राप्त करने के लिए यदि अनुष्ठान करे ये हमको मिल जाए ये पद मिल जाए ये मिल जाए वो हमको मिल जाए ये करेगा तो अब परमात्मा को प्राप्त कहाँ करेगा साक्षात्कार कहाँ करेगा एक कामना इच्छा को लेकर साधना करेगा तो सारा जीवन उसमें लग जाएगा और चाहने से मिल जाएगा प्रारब्ध नहीं तो मिल जाएगा नहीं मिलेगा इसलिए उनको छोड़ना ही बुद्धिमता है उसके पीछे चलना नहीं यही सोच करके एक एक इच्छा जो मन में है उसको छोड़ना विचार करेंगे जब समाप्त हो जाती इच्छा तो अथ मृत्यु अमृत भवती तो मृत्यु मरण धर्म वाला है अमृत हो जाता है अमरणत्व को प्राप्त कर लेता है मुक्त हो जाएगा अत्र ब्रह्म समस्मृति यही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्म को प्राप्ति के लिए जाना नहीं पड़ता है अत्र ही जीते जी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यही साक्षात्कार ही प्राप्ति है क्योंकि अपना स्वरूप है अपने से भिन्न हो तो प्राप्त करने के लिए ज्ञान होने के बाद भी कुछ भी प्रयास करना पड़ेगा सामने भोजन है आपको दिया गया दिखता है साफ खाने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है अपने आप पेट में चल जाएगा अब हाथ में कोई लेकर मुख में दे देगा तो कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा चबाओ नहीं चबा कर निकलो ऐसे करो अंदर जाएगा जाएगा तो भी तो प्रयत्न करना पड़ेगा कभी गला में अट गया तो हरिओम ओम <laughs> खाते खाते कोई मर जाते हैं <laughs> ऐसा ही सुना है कभी खाते खाते कहीं अट गया गए खत्म तो भी प्रयत्न करना पड़ता है जो लोग चबाते नहीं पानी भी चिम पीते रहेंगे अंदर उसको नीचे लेने के लिए चबागने से जाना चाहिए और जल्दी खाओ जब नहीं जाता है तो पा, पानी पियो मरो तो प्रयत्न करना पड़ता है और अपने माला है ज्ञान हो गया गले में उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप प्रयत्न करना पड़ेगा दूसरे कर देगा प्रयत्न दूसरे की आवश्यकता है अपने आप कुछ करना है प्राप्त है कुछ नहीं अपना स्वरूप है इसलिए अप्तर ब्रह्म समस्नुते ऐसे परमार्थ दर्शन होने पर सब इच्छा समाप्त होता है सब इच्छा समाप्त होने पर परमार्थ दर्शन होता है जितने जितने वेदांत चिंतन करे इतने इतनी इच्छा कम होनी चाहिए इच्छा कम होने पर तत्व चिंतन ब्रह्माकार वृत्ति होती है इच्छा बहुत है तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी शास्त्र समझ लिया श्रवण मनन कर लिया और वासना बहुत है ब्रह्माकार वृत्ति कहाँ होगी तो विषय चिंतन करता है वृत्ति समझने पर भी नहीं होती है इसलिए इच्छा ही प्रतिबंधक बड़ा सबसे यदा इसमें निकाले सर्वे कामा कामयितव्य से अन्य स्वभावात प्रमुच्यते कैसे काम समाप्त हो जाएगी बहुत संसार में वस्तु है सबकी इच्छा होती है समाप्त कैसे करेंगे जब विचार करके निश्चय करते कि आत्मा से भिन्न जितने सब अनात्मा है जितने ज्ञेय पदार्थ सब मिथ्या है तो कामना का विषय जितने सब मिथ्या है और सत्य वस्तु क्या है कामना का विषय होने के लिए आपसे भिन्न क्या वस्तु है सत्य कामयितव्य से अभाव कामना का विषय कोई अन्य है ही नहीं सर्वम खलु इदम ब्रह्म ब्रह्म से बिना कुछ दिखता है तो मिथ्या है नाम रूप सभी कामयितव्य कामना का विषय कोई अन्य वास्तव है ही नहीं ऐसे विचार करने से प्रमुच्यन्ते प्रकर्षण मुच्यन्ते विचिद्यन्ते काम समाप्त हो जाती है ये अस्य हृदय स्थिता वो कहाँ है काम अस्य साधकस्य प्राग प्रतिबोधात विदुष हृदय स्थिता प्रतिबोध ज्ञान होने के पहले अब बुद्धि में है अंतकण में है वो समाप्त हो जाते हैं पहले तो बहुत समाप्त करें विषया थे निराहार से देहिन रसवर्जम थोड़ी रसति सूक्ष्म रूप से रहती है परम दुष्टा निवर्तते और थोड़ा रस रहता है साक्षात्कार हो गया तो भी समाप्त हो तो धीरे-धीरे जितने जितने विषय इच्छा समाप्त हो जाए इतने इतने अंतकण शुद्धि इतने इतने सामीप्य है साक्षात्कार का अपने आप देखे साक्षात्कार होगा यदि इच्छा पूरा समाप्त हो जाए तो साक्षात्कार होगा तो अपने आप देखो साक्षात्कार होने के लिए अभी योग्यता है या नहीं है कितने बाकी है क्या-क्या इच्छा है इच्छा सब समाप्त करना पड़ता है पूरा प्राक प्रतिबोधाद ज्ञान होने के पहले बुद्धि में है ही जरूर वो समाप्त हो जाते हैं टीका मैं प्रवृत्त फल कर्म उपस्थापित शरीर स्थिति निमित्त अन्न पानादौ प्रवृत्ति कारण इच्छा व्यतिरिता सर्वे कामा कामना सब कामना की इच्छा होगी प्रवृत्त फल कर्म प्रवृत्तम फल में से कर्म फल आरंभ हो गया ऐसा जो कर्म है प्रारब्ध कर्म कहते हैं प्रारब्ध कर्म से कर्म फल देगा नहीं देगा भोगना पड़ेगा प्रारब्ध कर्म का फल कौन ज्ञानी अज्ञानी प्रारब्ध कर्म से उपस्थापित तो होगा जो विषय उपस्थापिते शरीर स्थिति निमित्त अन्नपान आदि शरीर स्थिति के निमित्त अन्नपान आदि प्रारब्ध कर्म से उपस्थित तो होता है जो भोजन मिल जाता है जो कुछ मिलता है प्रारब्ध कर्म से सब निमित्त बन जाता है प्रारब्ध कर्म का अर्थ नहीं कि कोई भोजन नहीं बनेगा अपने बने बनी बनाई जो बनी बनाई जो बना कोई बनाएगा पकाएगा तो बनी बनाई देगा घर से माई कर लाए भोजन है कहीं तो बनेगा प्रारब्ध कर्म का अर्थ नहीं कि भोजन बिना पकाए ही भोजन भात बन जाएगा रोटी बन जाएगी कोई ना कोई पकाएगा कहीं से आएगा कोई देता है सब निमित्त बनता है वो निमित्त में जो देता है उसको फल प्राप्त होता है वह अलग है किंतु हमको जो प्राप्त होगा प्रारब्ध कर्म से प्राप्त होगा ये शरीर स्थिति का निमित्त आयु निश्चित है जन्म के समय में पहले कितने दिन बचेगा जितने दिन तक जो उसको शरीर स्थिति के निमित्त अन्न पान प्राप्त है होगा कर प्रारब्ध कर्म से प्राप्त होगा तो शरीर स्थिति के अन्न पान प्राप्त होने पर उसको खाने के लिए प्रवृत्ति होगी या नहीं होगी इच्छा होगी खाने के लिए इच्छा सब समाप्त हो जाएगी तो फिर खाएगा कैसे इसलिए कहते वो इच्छा प्रवृत्ति कारण इच्छा व्यतिरिक्ता वो तो प्रारब्ध कर्म से जो भोजन प्राप्त है उसको खाएगा सामान्य शरीर स्थिति के लिए स्नान आचमन करने के लिए अथवा विचाटन करने के लिए जो कुछ प्रवृत्त होता है प्रवृत्ति का कारण जो इच्छा क्योंकि इच्छा के बिना प्रवृत्ति नहीं होगी इच्छा नहीं हो तो खा नहीं सकता पानी भी पी नहीं सकता है तो इच्छा तो होगी किंतु इतने जो देह स्थिति के लिए जो प्रारब्ध कर्म से प्राप्त सत उसको ग्रहण करने के लिए उसमें प्रवृत्ति होने के लिए जो इच्छा है वो तो रहेगी जब तक तो प्रारब्ध कर्म है उससे व्यतिरिक्त जिसके बिना चलेगा वो इच्छा को छोड़ना इसके बिना चलेगा छोड़ो ये चाहिए या नहीं चाहिए कोई भी मन में आया क्या इसके बिना नहीं चलेगा चलेगा तो छोड़ो मिलेगा तो प्रारब्ध से कोई बात नहीं इच्छा नहीं करना ऐसे करके समाप्त है उससे अतिरिक्त सर्वे कामा सब और अतिरिक्त काम क्या है काम्यन ज्योतिष न स्वर्गम प्राप्स्यामि ये तो सद शास्त्र प्रमाण कर्म करने वाले सदगृहस्थ जब शास्त्र वैदिक कर्म करते हैं तो इसी इच्छा होती है और जो बहुत बहुत बहिर्मुख है वैदिक कर्म कोई नहीं करता है ऐसी इच्छा किसकी होगी कोई एक चाहता है समय आकर के स्वर्ग जाऊंगा समय कौन ले आकर सकता है ये इच्छा तो बहुत में ही नहीं किंतु ये नहीं समझा ये इच्छा नहीं मतलब हम बिल्कुल निष्काम ये नहीं ये तो बहुत ऊपर की इच्छा है काम्य ज्योतिषम करके स्वर्ग प्राप्त करूंगा बहुत लोग सुख कौन नहीं चाहता सुख सब चाहते हैं स्वर्ग तक तो सुख है किंतु साधन अनुष्ठान करके स्वर्ग जाना चाहता है ये तो सद इच्छा है और बहुत ऐसी इच्छा होती कुछ साधन नहीं करके वो हमको मिल जाए छलांग लगा पर्वत के ऊपर पहुंच जाए कोई के मनोराज्य करते हैं सोते ही सा हमेशा बन जाते हैं हमेशा बन जाते हैं कितने सब कभी कभी कभी ऐसे जो बैठ कर सोचते हैं कभी राष्ट्रपति बन जाता है कभी मंत्री बन जाते हैं कभी मंडलेश्वर बन जाते हैं कभी बड़े मजिस्ट्रेट बन जाते ऐसे बनते रहते कब मन से कल्पना करते रहते ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता क्या होगा कुछ होता होता नहीं किंतु बड़े अच्छा लगता है मनोराज्य में घूमते हैं वेदांत विचार तो नहीं हो पाता है राज्य कह पर्वत के यहाँ से छलांग कर ऊपर पहुंच जाते हैं ऐसे भी कोई कोई सोते हैं यहाँ बैठे बैठे देखते पर्वत यहाँ से छलांग लाकर यहाँ पहुंच जाएगी नहीं तो कुछ कैसे सोते चमत्कार हमें दिखा ले सब लोग ऐसे दिखाएं चमत्कार सब लोग हमको माने बहुत ऐसी इच्छा है ये सब इच्छा बहुत निकृष्ट है काम्यन ज्योतिषमादिना स्वर्गम प्राप्त में उत्कृष्ट है और बाकी जो इसे फालतू इच्छा जो उसका कोई है ही नहीं साधन नहीं मिल जाए हमको मिल जाए सा हमको मिल जाए क्या मिलेगा प्रारब्ध में तो मिलेगा इच्छा नहीं करने पर भी प्रारब्ध नहीं तो जितने सोचो कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों व्यर्थ सोचना त्रिपुरी आराधना जन्म कर करिष्यामि ये ये <clears throat> जन को बस में रख कर कर दूंगा त्रिपुरी आराधना नहीं कुछ तंत्र मंत्र कोई हो कोई साधु अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहा कुछ लोग मानने लगे बड़ा फिर बाद में देखा और कुछ नहीं होता उनसे सबको ब्रह्म ज्ञान हुआ ब्रह्मान कहे तो सबको तो हमको क्या मिला फिर सोते कुछ तंत्र सीखना चाहिए फिर कि तांत्रिक को ढूंढे जाकर तंत्र सीखना किस लिए लोगों को दिखाएंगे तंत्र हम किस मन की बात बता देंगे कोई के झूठे झूठे से आरोप करते हैं बड़े विलक्षण ये माया में इसे ठगने वाले कोई तप भजन करे दरवाजा बंद रखे बोले देखिए आप आने के आप हमको पता चले ऐसे इसे दरवाजा हम खोला रखे हमेशा खोला रहता है जो आएगा उसको कहेंगे अभी पता चला मैं अभी खोल दिया <laughs> नहीं तो हमेशा बंद रखते हैं बंद करके रख लेते हैं और कभी के देखते नहीं तो खिड़की से देखते हैं कोई आ रहा है तो खोल देंगे तो देखो मैं अभी आपको याद करा था हाँ खिड़की से दिखता है नीचे कोई आ रहा है आए तो खोल दिया खोल कर देखो मैं अभी आप आने का पता चला तो भक्त लोग श्रद्धा से मान लेते बड़े कृपालु हम आने हमारे पता चल जाए बंद दरवाजा खोला ऐसे बहुत लोग बहुत कहते हैं तो ये सब विभिन्न प्रकार ये ठगने के लिए कहते थे तो हमको जनों को वशीकरण में तंत्र उपासना करके ढूंढते हैं किस किस के पास जा करके हमको तंत्र सिखाओ उद्देश्य उसे क्या परमात्मा प्राप्ति है लोगों को वशीकरण करेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे क्या यह विपरीत मार्ग है ये तेव मादय बहुत प्रकार इच्छा ही एक दो देखा दिया इच्छा इतने प्रकार है कि इसमें कितने प्रकार इच्छा क्या नहीं हो सकती बहुत प्रकार है स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा तो बहुत सद इच्छा है पर शास्त्र में विश्वास हो कर्म करना ये तो बहुत ऊपर की स्थिति है उसके बिना भी बहुत इच्छा होती है स्वर्ग आदि देहेषु अहम एव तिष्ठा स्वर्ग शरीर में रहूँगा तद भोगाश्च प्राप्ता एव प्राप्त विषयश्च और प्राप्त विषय से काम व्यर्थ मिथ्या चु क्या विचार नष्ट कैसे करना जितने भोग है सब प्राप्त हुआ है जो भोग आप सोचो इसके पहले अनादिकाल से जितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म हो गया सब प्रकार भोग बहुत कर लिया कितने करोड़ों करोड़ों बार स्वर्ग में कितने राह कितने आया केवल स्वर्ग में नहीं नरक में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे सब बन गया भोग सब प्राप्त है जो प्राप्त भोग हो गया उसको क्या चाहना इच्छा करना ऐसे करते करते मरते जन्म बहुत चलेंगे प्राप्त विषय से काम व्यर्थ व्यर्थ उसकी इच्छा करना व्यर्थ है बहुत भोग कर लिया तभी अभी चाहते हैं जितने भोग कर ले तो फिर इच्छा होती है काम व्यर्थ मिथ्याचा सौ और जो विषय जिसकी इच्छा होती है उसको थोड़ा विचार करें विषय क्या है उसमें कितने सत्यता है कितने नित्यता है वास्तव क्या है वास्तव विचार करने पर स्वप्न प्रपंच जिस प्रकार मिथ्या है ये जागृत प्रपंच ऐसा ही मिथ्या है देखते समय सत्य लगने पर भी तभी तो सर्वम खलुदम ब्रह्म बनेगा नेह नानाति किंचन है ही नहीं नहीं होने पर दिखता है तो उसको कहते मिथ्या है इति विचारण विसीर्यन्ते इत्यर्थ ये विचार से काम समाप्ति इसलिए हमेशा ही तत्पर होकर के अप्रमत्त होकर विचार करते रहे मन इधर उधर जाता है फिर मन को पूछे कहाँ जाता है देखे क्यों जाता है कुछ इच्छा है वासना है फिर जिस विषय में वासना पर विचार करे और विषय प्राप्त होने पर हो जाएगा कृत्य कृत्य हो जाएगा विषय भोग भोजन से कृत्य कृत्य हो जाएंगे मरने के बाद कहाँ जाना है वो थोड़ा विचार करे मन इस जाता है उस हम सोचे विषय भले प्राप्त हो जाए अच्छा उसके बाद क्या होगा मरने के बाद फिर क्या जाना पड़ेगा किस जन्म जाना पड़े ये सब बार-बार विचार करे तो कामना की समाप्ति होती है तब ये सब काम समाप्ति करनी है कामाश्रय आत्मेति वैशेषिक मतम श्रुति बाह्यत्वा नादरण्य में वित्याह वैशेषिक मत के अनुसार इच्छा बुद्धि सुख दुख इच्छा सब आत्मा में ही कहते हैं कामाश्रय आत्मा कामानाम आश्रय आत्मा कामे इच्छा ये आत्मा में ज्ञान सुख दुख इच्छा उत्पन्न की उत्पत्ति से कहते हैं आत्मा इति वैशेषिक मतम किंतु श्रुति बाह्यत्वात् नादरणीयम एव इत्या श्रुति बाह्य श्रुति विरुद्ध है श्रुति क्या कहती काम है ऐसा हृदय सीधा हृदयस्थ बुद्धि में स्थित है काम काम और संकल्प विचिकित्सा आदि सब एत सब मन एव बुद्धि सुख दुख जितने कहा एत सर्व मन एव कह करके मन में ही सब है उपादान कारण मन है आत्मा में नहीं आत्मा निर्विशेष है इसलिए कहते बुद्धि ही कामानाम आश्रयनात्मा बुद्धि काम इच्छाओं का आश्रय आत्मा नहीं है काम संकल्प विचिकित्सा इत्यादि श्रुति अंतराच बृहदार नहीं आया काम इच्छा संकल्प विचिकित्सा बुद्धि जितने सब ही धि सर्व मन एव ये सब मन है मन है उपादान कारण उपादान कारण कार्य में सामान्य अधिकरण प्रयोग होता है हाँ काम संकल्प आदि श्रुति को तार्किक लोग वैशेषिक लोग देखते हैं कहते मन उसका निमित्त कारण इसलिए कह दिया मन किंतु निमित्त कारण के साथ कार्य का सामानाधिकरण कभी नहीं होता है मिट्टी घट है कह सकते क्या अरे मिट्टी दंड है ए नहीं घट दंड है घट कुलाल है घट चक्र है तीनों में से क्या ठीक है घट ना दंड है ना चक्र है ना कुलाल निमित्त कारण थे तो दंड चक्र कुलाल निमित्त कारण उसके साथ घट का सामनाधिकरण घट दंड है कुलाल ऐसा कोई नहीं कहता किंतु घट मिट्टी है वो ठीक है काम आदि मन कहने का अर्थ मन में ही काम उत्पन्न होता है अथ मर्त्य अमृत होते अथ का तदा मर्त्य प्राग प्रतिबोधात आसित ज्ञान के पहले मर्त्य था मरण धर्म वाला था स प्रबोध उत्तर कालम अमृत हो जाता है पहले अमर्त्य था मरण धर्म भला प्रबोध के उत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षण से मृत्यु और विनाशाद अमृत भवति मृत्यु रहित तो हो जाता है अविद्या काम कर्म रूप मृत्यु है यही मृत्यु का अविद्या काम कर्म को उसे जन्म मरण को प्राप्त करता अविद्या है मूल कारण काम इच्छा और कर्म कर्म से फिर जन्म को प्राप्त करता है ये मृत्यु का विनाश मृत्यु के समाप्त हो जाने से अमृत हो जाता है गमन प्रयोजक से मृत्यु विनाशाद जो अविद्या काम कर्म है तो गमन होगा कर्म है कामना है अविद्या है तो फिर जन्म प्राप्त करेगा यही मृत्यु मृत्यु समाप्त हो गया ज्ञान होने से मृत्यु विनाशाद गमन अनुपत्तेर अत्र प्रदीप निर्वाणवत सर्वबंधन उपसमाद ब्रह्म समस्नुते ब्रह्मेव भवति इत्यर्थ अमृत हो जाता है और यही ब्रह्म प्राप्त करता है कहीं जाता नहीं है क्योंकि गमन प्रयोजक से मृत्यु विनाशात मृत्यु जब तक है तो का अविद्या काम कर्म मर, मरने के बाद फिर जाएगा अन्य लोग जाएगा जन्म प्राप्त करेगा किंतु मृत्यु समाप्त हो गया ज्ञान होने का विनाशाद गमन नहीं होगा गमन का कारण नहीं रहा तो गमनानुपपत्तेर अत्र यहीव यही ब्रह्म को प्राप्त करता है प्रदीप निर्वाणवत प्रद्य प्रकाश करता है बुझ गया और तेज वहीं में समाप्त हो ही मिल गया कहीं जाना नहीं सर्व बंधन उपसमा सारे बंधन समाप्त हो गए अविद्या निवृत्त होने से ज्ञान से काम कर्म सो नष्ट हो गए बंधन समाप्त हो गया बंधन समाप्त होने से घट उपाधि है तो घटाकाश कहते घट नष्ट हो गया तो वही महाकाश है जाना नहीं पड़ता घटाकाश को महाकाश में मिलने के लिए पहले भी महाकाश है घट के कारण नाम अलग था इसी प्रकार बंधन नष्ट होने से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जो बंधन समाप्त हो गया भ्रांति अप्राप्त भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है अपना स्वरूप यही सम तो प्राप्त करता है गौण प्रयोग है ब्रह्म समस्नुते ब्रह्मैव भवति ब्रह्म ही हो जाता है वस्तु तो ब्रह्म ही है किंतु अब्रह्म तो भ्रांति की निवृत्ति होती है तो गौण प्रयोग ब्रह्म हो जाता है टीका में काम प्रविलय से सुषुप्ते भी भावात अमृतत्व चिन्ह तो न भवती इति मत्वा ये कहा जब काम समाप्त तो हो जाते हैं तो मर्त्य अमृत भवती इच्छा तो सुषुप्ति काल में भी नहीं रहती है काम प्रविलय से सुषुप्ते भी भावात सुषुप्ते भी सत्वात सुषुप्ति काल में कोई इच्छा रहती नहीं है जितनी इच्छा करते जागृत काल में सपने में कुछ इच्छा करेंगे गाढ़ निद्रा में सो गया कोई इच्छा नहीं तो काम का तो अभाव हो गया तो वहाँ कहाँ अमृतत्व तो होता है इसलिए अमृतत्व का चिन्ह काम प्रबिल नहीं हो सकता है काम समाप्त तो हो जाएगी तो अमृतत्व को प्राप्त करेगा ऐसा यदि होता सरस्वती में कोई इच्छा नहीं रहती तो मुक्त हो जाना चाहिए इसलिए अमृतत्व चिन्हत्व न भवति कस्य काम से अमृतत्व अमृतत्व चिन्हत्व न भवति अर्थात काम प्रबिलय अमृतत्व का चिन्ह ज्ञापक नहीं है अमृतत्व हो जाएगा काम समाप्त होने पर जो का ठीक नहीं है ऐसा मान करके पूछता है पूर्व पीछे कदा पुनः कामाना मूलत्व विनाश सुसुप्त में काम का लय हो जाता है काम लय हो गया मतलब कारण रूपण अवस्थान काम उस समय कारण में अज्ञान में लीन हो गया अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है मूलत्व विनाश मूल भी नहीं रहे घट को तोड़ें तो मिट्टी है काम सम अज्ञान में कारण में लीन हो जाते हैं लय का अर्थ कारण अवस्था अवस्थान लय हो गया मतलब कारण रूप से रहेगा तो किंतु मूल रहन से फिर जागरण तो आता है फिर कर्म जितने काम कर्म है गाढ़ निद्रा में सो जाएं तो जगने के बाद पहले इच्छा रहेगी जागृत काल में सपन काल में जो इच्छा करके सो गया जगने का तो इच्छा रहती है फिर इच्छा होती उस कर्म फिर लगता है उसमें पहले जो इच्छा करता था सो गया फिर उठ करके वही इच्छा से फिर करता है और कर्म जो कर्म लेकर आया था पुण्य पाप कर्म गाढ़ निद्रा में सो जाएगा उठने के बाद वही कर्म रहेगा वही कर्म रहता नहीं तो कोई रोगी सो गया उठने के बाद रोग निवृत्त हो जाना चाहिए कर्म समाप्त हो गया किसी कर्म के कारण फोड़ा निकला घाव बड़े कष्ट हो रहा है गाढ़ निद्रा सो गया कर्म समाप्त हो जाएगा तो उठने के बाद और फोड़ा नहीं रहना चाहिए ऐसे यदि होता तो फिर गाढ़ी निद्रा डॉक्टर के पास कौन जाता है गाढ़ी निद्रा में सो जा जगने के बाद अंधा भी आनंद हो जाएगा अंधा था सो गया जगने के बाद अंधा रहेगा यहाँ खुल जाएगा वही अंधा है जो जिसका था पेट में दर्द है गाढ़ी निद्रा सो गया जगने के बाद पहला दर्द है बाद में कुछ सोचेगा पहले पेट में दर्द है इसी प्रकार सौ रहता है जो लीन होता है तो काम मूल से विनाश कैसे होगा यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय से यह ग्रंथयः अथ मृत्यु मृतो अनुशासनम यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय से यह ग्रंथय हृदय की जो ग्रंथि बुद्धि में ग्रंथि है गांठ है ग्रंथि की जैसे दृढ़ बंधन है कोई धागा में गांठ हो गया ग्रंथि होगी गांठ लग जाने का उसको खोलना खोलने तक के समय प्रयास करते करते गांठ और कठिन हो जाती है थोड़ा पहले ढंग से खोलेंगे तो खोल सकता था किंतु इधर खींचो इधर खींचो इधर का इतने जोर हो जाता है उसके बाद खोले आए नहीं बड़ा कठिन होता है ये यदा सर्वे प्रभिद्यंते प्रकर्षण विद्यन्ते पूरा नष्ट हो जाए हृदय से यह ग्रंथि है तब अतमर्त्य अमृत भवति तब अमर्त्य अमृत होता है अर्थात उस समय पूरा मूल से ही काम समाप्त है हृदय ग्रंथि पूरा विद्यन्ते लय होने से नहीं बुद्धि अनुशासन मितनी अनुशासन उपदेश है ज्ञान प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं है यदा सर्वे प्रपिद्यन्ते विधि विधान भेदम उपयांति भेद प्राप्त विनश्यन्ति भेद को प्राप्त करते विनश्यन्ति समाप्त हो जाते हैं हृदयस्य से बुद्धेर हृदय में स्थित बुद्धि को हृदय शब्द से कह देते हैं मन चाह क्रोशंति कहते हैं मचान है मचान में स्थित पुरुष चिल्लाते रात को कहते मन चाह क्रोशंति बुद्धि में स्थित को बुद्धि शब्द से कह दिया ऐसे हृदय से बुद्धि बुद्धि में काम यह यह मतलब जीवत एव मरने के बाद समाप्त होगा यह नहीं कोई सत्य साधना करेंगे मरने के बाद सब हो जाएगा अभी अभी कामना समाप्त हो तो यही जीवन मुक्त यही ज्ञान हो तो मुक्ति जीवतव ग्रंथयो ग्रंथि क्या बुद्धि में गांठ कैसे बुद्धि कोई मूर्त पदार्थ नहीं बुद्धि ग्रंथि क्या होगी कहते ग्रंथिव दृढ़ बंधन रूपा अविद्या प्रत्यय ग्रंथि के समान दृढ़ बंधन है अत्यंत दृढ़ जैसे ग्रंथि बंधन है गांठ हो गया दृढ़ बंधन खोलना मुश्किल है काट सकते हैं बंधन को गंती हो गई तो खोलना बड़ा मुश्किल है यहाँ गंती क्या है अविद्या प्रत्यय अविद्याजन्य ज्ञान अविद्या से ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान अविद्या प्रत्यय कैसा है अहम इदम शरीरम कोई कहता अहम इदम शरीरम अहम मनुष्य कहते ना नहीं तो ही शरीर है मनुष्य अहम शरीर मनुष्य अहम पुरुष ये जो ज्ञान होता है स्थूलोहम कृशोहम मोटा हो गया पतला हूं ये तो अहम इदम ये ये देह में अहम बुद्धि शरीरम मम इदम मेरा यह है धन मकानादि मम इदम धनम धनादि मेरा यह है यही अविद्या प्रत्यय अहम आत्मस्वरूप को छोड़कर देह में तादात्म अध्यास हुआ और देह संबंधी में फिर ममत्व अध्यास हुआ ये धन है अहम सुखी सुख तो अंतगण का धर्म है अंतगण के साथ आत्मा का तादात्म अध्यास होने से आत्मा में सुख दिखता है जल में कंपन होता है जल में प्रतिबिंबित आकाश में कंपन दिखता है चंद्र में आकाश जल में प्रतिबिंबित आकाश के साथ चंद्र है जल को हिलाएंगे तो कहेंगे चंद्र हिलता है ऊपर देखो चंद्र हिलता नहीं है प्रतिबिंब में कंपन दिखता है ऊपर चंद्र को नहीं जान कर कहते चंद्र हिल रहा है घड़ा में घड़े में चंद्र हिला है कहते हैं इसी प्रकार आत्मा का बुद्धि के साथ एकत्व तादात्म अध्यास होता है क्योंकि अंतकरण बुद्धि में आत्मा का चिदाभास प्रतिम्ब होता है होने से बुद्धि के धर्म आत्मा में आरोपित होता है कहता अहम सुखी दुखी सुख दुख अंतकरण का धर्म है सुखी दुखी च हम इतम आदि लक्षणा ये अविद्या प्रत्यय है ये सब अविद्या प्रत्यय है ग्रंथि के समान है यही ग्रंथि है यही तादात्म अध्यास है ग्रंथि अन्य ग्रंथि को तो प्रयत्न कर खोलेंगे तादात्म अध्यास को कुछ प्रयत्न से खोलेगा नहीं ज्ञान के बिना तद विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्यय उपजनाद ये नष्ट होता है विपरीत ब्रह्मात्म प्रत्यय मैं अहम अस्मि ब्रह्म से ज्ञान से ही नष्ट होता है ब्रह्मात्म प्रत्यय कैसे ब्रह्मेवाहम अस्मि अहम ब्रह्म एव अहम ब्रह्म ही हूँ असंसारी यही ज्ञान इसी ज्ञान से नष्ट होती ग्रंथि ग्रंथि को नाश करने के लिए केवल है कि अहम अस्मि ब्रह्म इति विनश विनष्टेश अविद्या ग्रंथिषु ज्ञान होने से अविद्या ग्रंथि नष्ट हो जाती है अविद्या निवृत्ति होने से तन्निमित्ता कामा मूलत्व विनश्यन्ति अविद्या है मूल तन्निमित्त काम तात्म अविद्या ग्रंथि तादात्म अध्यास अविद्या है उनसे चेतन के साथ तादात्म अध्यास होता है तादात्म अध्यास के कारण काम है कर्म है और ग्रंथ अविद्या अध्यास नष्ट हो जाने से काम मूलत्व विनश्यति इच्छा सब मूल से नष्ट हो जाते हैं तो जब काम का प्रभेद नाश हो जाता है मूल से सुषुप्ति में मूल से नाश नहीं मूल रह जाता है किंतु ज्ञान होने पर यही भेद है सुषुप्ति और ज्ञान में मूल से नष्ट हो जाते अथ मृत्यु अमृत भवति मृत्यु अमृत भवति मुक्त हो जाता है अमरण धर्मत्व को प्राप्त करता है एतावद्य अनुशासन एतावद्धि एतावत् एतावदेव एतन्मात्रम एतावदेव इतने ही न अधिकम अस्ति इस आशंका कर्तव्य और कोई अधिक नहीं उपदेश यही उपदेश है और जितने शास्त्र में कहेंगे यही उपदेश करेंगे ये काम समाप्त हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान होगा अब ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अविद्या ग्रंथि नष्ट हो गई मुक्त हो जाता है यही एतावध्य अनुशासनम यही उपदेश है न अधिकम अस्तित्व आशंका करते अधिक कोई है ये शंका नहीं करने यही है करना क्या है निश्चय करके ही करना है कहीं जा करके भटकने से कोई सिद्धाई कुछ कर देगा करा देगा कभी नहीं होगा अपनी इच्छा को समाप्त करना अपने विचार करके कोई कुछ अन्य सरल उपाय बता देगा अपन सीधा परमात्मा प्राप्त कोई कर लेगा कभी नहीं है ये सब इच्छा अपने आप ही प्रतिबंध के वही बांध कर रखे ये सब इच्छा उसको छोड़ना है यही बंधन है दृढ़ बंधन ग्रंथि के समान है इनको काटना है तो अविद्या के कारण है और अविद्या पहले कुछ इच्छा समाप्त तो हो तो ज्ञान होगा बहुत इच्छा समाप्त तो हो जाए सूक्ष्म ग्रंथि अध्यास रहता है तो साक्षात्कार होने पर वो समाप्त तो हो गया मूल समाप्त हो गया तब यही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यही उपदेश है अनुशासनम का तो अनुशिष्ट उपदेश है यही एतावध्य अनुशासनम अनुशिष्ट का तो उपदेश किसका उपदेश है सर्व वेदांतानमिति वाक्य से सारे वेदांत का उपदेश यही है और अधिक नहीं है ये शंका नहीं करना और कुछ होगा और कुछ होगा यही इसी को ही बताने के लिए अन्य अन्य शब्द अन्य अन्य आख्याय का अन्य अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार से उसको ही उपदेश करते हैं यदि ज्ञान हो जाता है तो कोई आवश्यक नहीं है ज्ञान नहीं होता तो जितने प्रकार कहा गया श्रवण करते करते कोई प्रकार किसी प्रकार इच्छा समाप्त तो हो बार बार मिथ्या तो बुद्धि संसार में हो इसलिए वेदांत मार्ग को राजमार्ग कहते हैं श्रेष्ठ मार्ग राजमार्ग इसलिए है क्योंकि संसार में मिथ्या तो बुद्धि करना ही बार-बार होता है और मिथ्या तो बुद्धि के बिना कामना की निवृत्ति संभव नहीं है प्रयास करके थोड़ी देर मुख मुख को वो बंद कर दिया मौन हो गया बोलने वाला वो तो मौन कर दिया थोड़े दिन बस मौन कर दिया तीन चार दिन पांच दिन नहीं अर्थात पंद्रह दिन छः महीना कोई जीवन और कोई मौन हो गया बाद में तो यही इच्छा कि सब लोग हमको मौन ही कहे कोई कोई तो थोड़ी देर मौन रहते इसलिए उनका हमारा नाम भी मौन ही हो जाए बाद में नाम होता मौनी कोई पूछेंगे तो आप कौन मैं मौनी जी बोल रहा हूँ अपने आप बोले मौनी जी बोल रहे हैं मौनी जी क्योंकि पहले कभी मौन था कोई पूछे आपका नाम क्या है हमको सब लोग मौनी कहते हैं अपना नाम नहीं कहेंगे नहीं तो कहेंगे हमको सब योगराज कहते हैं बहुत का नाम योगराज है थोड़ी साथ में बढ़ाने क्या योगी राज नाम पूछेंगे तो नहीं कहेंगे योगी राज कहते हैं मौन नाम लेने के लिए मौन लेते हैं आगे मौन नहीं रहते हैं ये सब कुछ बड़े अपने मार्ग से हट करके बाहर ये वासना के कारण भ्रांति से अज्ञान से मूर्खता के कारण ये सब प्रवृत्ति बहुत में हो जाती है इसलिए ये सब से सावधान होकर के सरल वेदांत राजमार्ग है ठीक मार्ग पर चलना है सब इच्छा को समाप्त करके ये सब कुछ ना कुछ वासना कुछ ना कुछ इच्छा इससे क्या मिलेगा लोग मौनी कह दिए मौनी मुख बंद कर कोई रह गया अपने आप को सोचता है मैं बड़ा साधन कर रहा हूँ अच्छे कोई महात्मा वो सोचा दो चार दिन हम कमरा से नहीं निकलेंगे नहीं निकले तो भगवान को आना ही पड़ेगा और चार दिन दरवाजे बंद कर दिया तो कुछ हुआ नहीं फिर लगता है यहाँ तो कोई साधन नहीं होगा कि मैं सब प्रकार देख लिया दरवाजे बंद कर बैठा तो भी कुछ नहीं हुआ फिर क्या करेंगे छोड़कर चल जाओ भागो इधर इधर जहां भी जाओ दरवाजा बंद कर बैठे तो एक सप्ताह बैठो भगवान दौड़ कर आज भगवान तो आए बाहर से क्यों आएंगे देखने के लिए तुम पहले आंख को साफ करो अंतकण शुद्ध करो इच्छा को खत्म करो इसको लेकर बैठा है तो भगवान कहां दिखेंगे कहां से आएंगे और दरवाजा बंद कर दिया वो दरवाजा खुला होने पर तो नहीं आते थे बंद कर दिया तो कहां से भगवान आए दरवाजा बंद कर दिया भगवान तो है ही ये सब छोड़ कर वेदांत राजमार्ग है यही उपदेश है वेदांत का यही साधन है वही करना है ये वेदांत श्रवण करके निश्चय करना पड़ता है हम कहाँ है और क्या करना चाहिए क्या प्राप्त करना है लक्ष्य निर्धारण निश्चय कर हमारा लक्ष्य क्या है उसके लिए क्या करना है और जो बहुत वासना वाले क्यों सुनेंगे वेदांत वो छोड़ देंगे बोले ये क्या कहते सब छोड़ो सब छोड़ो हमको तो क्या क्या करना है छोड़ो छोड़ो कहते तो कहीं क्या अच्छा लगेगा जिसके मन में बहुत संकल्प है कुछ करने का है ये वेदांत सुनने पर उसका ऐसा लगेगा बोला ये क्या कहते छोड़ो छोड़ो छोड़ो <laughs> वो छोड़ कर जाए वेदांत बोल सब छोड़ो क्या सब तो नहीं छोड़ पाएगा वेदांत सब ही छोड़ दो <laughs> और कोई छोड़ने के लिए नहीं कहेगा वेदांत श्रवण करो तो क्या कहेंगे ये कहते सब छोड़ने के लिए कहते इच्छा को छोड़ो और कहते जहाँ जाओ वेदांत श्रवण करने पर जितने वेदांत है सब यही कहेंगे एतापद्य अनुशासन नहीं तो कोई सोचे कि कामना का त्याग क्यों बार-बार कहते हैं <clears throat> श्रुति यहां कहती हम नहीं कहते श्रुति कह दिया सब काम समाप्त करो सब बुद्धि में ग्रंथि है सुन समाप्त हो जाए यही अनुशासन एतावद्य अनुशासन और कुछ नहीं सारे वेदांत का यही तात्पर्य है इच्छाओं का समापन भेदन नाश पूरा करना है ओम सहना भवतु